गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्मो सनंतनों से संकलित प्रवचन नंबर इक्यासी भाग तीन दूर से आई श्रोता दूसरा दृश्य एक दिन कुछ उपासक भगवान के चरणों में धर्म श्रवण के लिए आए उन्होंने बड़ी प्रार्थना की भगवान से कि आप कुछ कहें हम दूर से आए बुद्ध चुप ही रहे उन्होंने फिर फिर प्रार्थना की तो फिर बुद्ध बोले जब उन्होंने तीन बार प्रार्थना की तो बुद्ध बोले उनकी प्रार्थना पर अंततः भगवान ने उन्हें उपदेश दिया लेकिन वे सुने नहीं दूर से तो आए थे लेकिन दूर से आने से कोई सुनने का संबंध शायद दूर से आए थे तो थके मांदे भी थे शायद सुनने की क्षमता ही नहीं थी उनमें से कोई बैठे बैठे सोने लगा और कोई जमाइयां लेने लगा कोई इधर उधर देखने लगा शेष जो सुनते से लगते थे वे भी भर सुनते से ही लगते थे उनके भीतर हजार और विचार चल रहे थे पक्षपात पूर्वाग्रह धारणाएं उनके पर्दे पे पर्दे पड़े थे उतना ही सुनते थे जितना उनके अनुकूल पड़ रहा था उतना नहीं सुनते थे जितना अनुकूल नहीं पड़ रहा था और बुद्ध पुरुषों के पास सौ में कभी एक आधी बात तुम्हारे अनुकूल पड़ती बुद्ध कोई पंडित थोड़ी पंडित की सौ बातों में से सौ बातें अनुकूल पड़ती क्योंकि पंडित वही कहता है जो तुम्हारे अनुकूल पड़ता है पंडित की आकांक्षा तुम्हें प्रसन्न करने की तुम्हें राम कथा सुननी तो राम कथा सुना देता तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुननी तो सत्यनारायण की कथा सुना देता उसे कुछ लेना देना नहीं तुम्हें क्या सुनना है उसका ध्यान तुम पर है तुम्हें जो ठीक लगता है कह देते उसका नजर तो पैसे पर जो तुम दोगे उसे कथा कर देने के बाद लेकिन बुद्ध पुरुष तुम्हें देखकर तुम्हारा जो भाव है उसे देखकर तुम जो चाहते हो उसे देखकर नहीं बोलते बुद्ध पुरुष जिससे तुम्हारा कल्याण होगा बड़ा फर्क है दोनों में सत्यनारायण की कथा से तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा इससे कुछ लेना देना नहीं पंडित को किसका हुआ है कितने तो लोग सत्यनारायण की कथा सुनते रहे और सत्यनारायण की कथा में न सत्य है और न नारायण है कुछ भी नहीं बड़े मजे की कथा है ये जो पंडित है इसने लोगों को एक धारणा दे दी है कि सत्य तुम्हारे अनुकूल होता है सत्य तुम्हारे अनुकूल हो ही नहीं सकता अगर तुम्हारे अनुकूल होता तो कभी का तुम्हें मिल गया होता तुम सत्य के प्रतिकूल हो इसलिए तो सत्य मिला नहीं और जब सत्य आएगा तो छुरे की धार की तरह तुम्हें काटेगा पीड़ा होगी तो जो सुन रहे थे वे भी बस सुनते से लगते थे उनकी हजार धारणाएं थी वो अपनी धारणाओं के हिसाब से सुनने आए थे उनके अनुकूल पड़ती की बात है यानी पड़ती बात ये बुद्ध जो कहता है इससे उनके सिद्धांत सिद्ध होते कि नहीं सिद्ध होते अर्थात वहां कोई भी नहीं सुन रहा था कोई शरीर से ही वहां बस मौजूद था मन कहीं और था दुकान में बाजार में हजार काम में यहां भी मैं देखता हूं कुछ मित्र आ जाते हैं जमाई ले रहे हैं कोई झपकी भी खा जाता है मैं कभी कभी चकित होता हूं आते क्यों हैं कोई बीस से उठ जाता है कभी कभी हैरानी होती है कि इतनी तकलीफ क्यों की इतने दूर अकारण आए क्यों लेकिन कारण है लोगों की पूरी जिंदगी ऐसे ही जमाई लेती बीत रही उसी तरह की जिंदगी को लेकर वो यहां आते नई जिंदगी लाए भी कहां से ऐसे ही सोते सोते झपकी खाते खाते जिंदगी जा रही उसी जिंदगी में वो यहां भी सुनने आते हैं वो नई जिंदगी लाए भी कहां से कोई काम कभी जिंदगी में पूरा नहीं किया सब अधूरा छूटता रहा है बीच में यहां से भी उठ जाते हैं पूरी बात सुनने का बल कहां इतनी देर थिर होके बैठना भी मुश्किल है डेढ़ घंटा भारी लगता है हजार तरह की अड़चने आने लगती हजार तरह के ख्याल आने लगते हैं कि बाजार ही चले गए होते इतनी देर में इतना कमा लिया होता फला आदमी से मिल लिए होते वकील से मिलाए होते अदालत में परसों मुकदमा है ऐसा है वैसा हजार बात भीतर उठती रहती लेकिन कुछ आश्चर्य की बात नहीं है यही तो 24 घंटे उनके भीतर चल रहा है यहां अचानक आके वो इसे एकदम छोड़ भी नहीं दे सकते आनंद ने ये दशा देखी बुद्ध के भिक्षु आनंद ने यह दशा देखी पहले तो इन लोगों ने तीन बार प्रार्थना की भगवान टालते रहे टालते रहे फिर बोले अब इनमें से कोई सुन नहीं रहा है आनंद को बड़ी हैरानी हुई उसने कहा भगवान आप किससे बोल रहे यहां सुनने वाला तो कोई है ही नहीं भगवान ने कहा मैं संभावनाओं से बोल रहा हूं जो हो सकता है जो हो सकते उनसे बोल रहा हूं मैं बीस से बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इसलिए भी कि मैं नहीं बोला ऐसा दोष मेरे ऊपर न लगे रही सुनने वालों की बात सो ये जाने सुन ले इनकी मर्जी ना सुने इनकी मर्जी फिर जबरदस्ती कोई बात सुनाई भी कैसे जा सकती है बुद्ध ने कहा मैं संभावनाओं से बोल रहा हूं बुद्ध का एक बड़ा शिष्य बोधिधर्म चीन गया तो नौ साल तक दीवाल की तरफ मुंह करके बैठा रहा वो लोगों की तरफ मुंह नहीं करता था अगर कोई कुछ पूछता भी तो दीवाल की तरफ ही मुंह रखता और वहीं से जवाब दे देता लोग कहते कि महाराज बहुत भिक्षु देखे भारत से और भी भिक्षु आए हैं मगर आप कुछ अनूठे ये कोई बैठक का ढंग कि हम जब भी आते हैं तब आप दीवाल की तरफ मुंह किए रहते शायद बोधि धर्म ने पाठ सीख लिया होगा उसने कहा है कि इसीलिए कि मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता क्योंकि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं मुझे दीवाल दिखाई पड़ती उससे कहीं मैं कुछ कहना बैठू सो मैं दीवाल की तरफ देखता रहता हूं वो आदमी जरा ठेज थरार था उसने कहा कि जब कोई आदमी आएगा जिसकी आंखों में मैं देख सकूं और पाऊं कि दीवाल नहीं है तब मैं देखूंगा उसके पहले नहीं नौ साल बैठा रहा तब उसका एक पहला शिष्य आया हुई कुजो और हुई को जो पीछे खड़ा रहा 24 घंटे खड़ा रहा हुई को जो कुछ बोले ही नहीं बर्फ गिर रही थी उसके हाथ पैर पे बर्फ जम गई ठंड में सिकुड़ रहा है वो खड़ा ही रहा वो बोले ही नहीं 24 घंटे बीत गए और बोधि धर्म बैठा रहा दीवाल की तरफ देखते ही रहा देखते ही रहा आखिर बोधि धर्म को ही पूछना पड़ा कि महानुभाव मामला क्या है क्यों खड़े हैं क्या मुझे लौटना पड़ेगा क्या मुझे लौटकर तुम्हारी तरफ देखना पड़ेगा तो हुई कुछ ने कहा जल्दी करो नहीं तो पछताओगे और हुई कुजो ने अपना एक हाथ काट के उसको भेंट कर दिया कि ये एक सबूत कि मैं कुछ कर सकता हूं और दूसरा सबूत मेरी गर्दन कहते हैं बोधि धर्म तत्क्षण घूम गया उसने कहा तो तुम आ गए तुम्हारी मैं प्रतीक्षा करता था तुम्हारे लिए ही दीवाल को देख रहा था ऐसा अनुभव मुझे रोज होता है आनंद की बात ठीक ही लगती है कि भगवान आप किससे बोल रहे यहां सुनने वाला तो कोई है ही नहीं मैं भी संभावनाओं से बोल रहा हूं जो हो सकता है उससे बोल रहा हूं जो हो गया है उससे तो बोलने की जरूरत भी नहीं वो तो बिन बोले भी समझ लेगा वो तो चुप्पी को भी समझ लेगा वो तो मौन से भी अर्थ निकाल लेगा जो नहीं हुआ है अभी उसी के लिए काफी चिल्लाने की मकानों के मुंडेर पर चढ़ के चिल्लाने की जरूरत है उसे सब तरफ से हिलाने की जरूरत है शायद जग जाए सौ में से कभी कोई एक आध जगेगा लेकिन वो भी बहुत है क्योंकि एक जग जाए तो फिर एक किसी और एक को जगा देगा ऐसे ज्योति से ज्योति जले ऐसे दिए से दिए जलते जाते हैं और बोधि की परंपरा संसार में चलती रहती और बुद्ध ने ठीक कहा कि इसलिए भी बोल रहा हूं कि नहीं बोला ऐसा दोष मुझ पर ना लगे नहीं सुना ये तुम्हारी बात रही ये तुम जानो मैं नहीं बोला ऐसा दोष ना लगे तब आनंद ने पूछा बनते आपके इतने सुंदर उपदेश को भी ये सुन क्यों नहीं रहे सुंदर उपदेश या असुंदर उपदेश तो सुनने वाले की दृष्टि है आनंद को लग रहा है सुंदर उसके हृदय कमल खिल रहे हैं ये बुद्ध की मधुर वाणी ये उनके शब्द उसके भीतर वर्षा हो रहे अमृत की वर्षा हो रहे वो चकित है कि इतना सुंदर उपदेश और ये मूढ़ बैठे हैं कोई झपकी खा रहा कोई जमाई ले रहा किसी का मन कहीं भाग गया है किसी का मन सोच रहा है कि ठीक है कि नहीं है गलत है कि सही है शास्त्र में लिखा उसके अनुकूल है या नहीं कोई विवाद में पड़ा है एक भी सुन नहीं रहा है इतना सुंदर उपदेश ये सुन क्यों नहीं रहे भगवान ने कहा आनंद श्रवण सरल नहीं श्रवण बड़ी कला है आते आते ही आती है राग द्वेष मोह और तृष्णा के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता पूर्वाग्रहों के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता भय के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता पुरानी आत्तों के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता लेकिन सबके मूल में राग है राग की आग के समान आग नहीं है इसमें ही संसार जल रहा है इसमें ही मनुष्य का बोध जल रहा है उसके कारण ही लोग बहरे हैं अंधे हैं लूले हैं लंगड़े और तब उन्होंने ये गाथाएं कही नत्थी राग समो अग्गी नत्थी दोष समो गहो नत्थी मोह समम जालम नत्थी तणहा समा नदी सुदसम वज्ज मंजेसम अत्तनोपन दुर्दसम परेसिम सो वज्जनी ओ पुणाति यथाभूसम अत्नो मन छादेती कलिवा कित्तवो सठो पर वज्जानुपासिस निच्चम उज्जान सच्चिनो आसवा तस् वडंती आरासो आसवख्या राग के समान आग नहीं द्वेष के समान ग्रह नहीं मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं राग के समान आग नहीं क्योंकि राग मनुष्य को जलाती है तीक्ष्ण अग्नि की लपटों की भांति जलाती तो इसमें से कोई तो राग में जल रहा है कोई अपनी पत्नी की सोच रहा है कोई अपने धन की सोच रहा है कोई दुकान की सोच रहा है इनमें से कुछ तो आग की लपटों में जल रहे हैं राग की लपटों में जल रहे हैं द्वेष के समान ग्रह पिसाच भूत प्रेत नहीं कुछ के पीछे द्वेष लगा है जैसे किसी के पीछे भूत लग जाता है तो द्वेष फिर सोने नहीं देता बैठने नहीं देता यहां कुछ हैं जो किसी की हानि की सोच रहे हैं यहां मैं उनके कल्याण की बात कर रहा हूं उसमें उनकी उत्सुकता नहीं कोई सोच रहा है कि दुश्मन को मार डाले कोई सोच रहा है उसके खलिहान में आग लगवा दें कोई कहता मुकदमे में ऐसी चाल चले कि सदा के लिए सजा हो जाए यहां कोई द्वेष के पिशाच से परेशान हो रहा है मोह के समान जाल नहीं कोई मोह में पड़ा है किसी को अपने बेटे की याद आ रही किसी को अपनी बेटी की याद आ रही किसी की आंख में आंसू झलक आए हैं किसी की याद में किसी की पत्नी मर गई वो उसके ख्याल में बैठा है कोई किसी नए स्त्री के प्रेम में पड़ गया है वो उसका विचार कर रहा है तो कोई मोह के जाल में उलझा है और तृष्णा के समान नदी नहीं और कुछ हो जाऊं कुछ पालू कहीं पहुंच जाऊं ऐसी जो वासना है वो तो नदी की तरह बाढ़ है कोई उसमें बहा जा रहा है इनके कारण ये नहीं सुन पा रहे श्रवण बड़ी कला है बुद्ध ने कहा आते आते ही आती है तो इन पर नाराज मत हो जाना आनंद क्यों क्योंकि दूसरों का दोस्त देखना आसान है अपना दोस्त देखना कठिन है तुझे इनका दोस्त दिखाई पड़ रहा तुझे अपने दोस्त दिखाई नहीं पड़ेंगे इनको अपना दोस्त दिखाई नहीं पड़ रहा है इनको दूसरों के सारे दुनिया के दोस्त दिखाई पड़ते हैं अब दूसरे का दोस्त देखना आसान है अपना दोस्त देखना कठिन ये बड़ी अद्भुत बात आनंद से कही बुद्ध पुरुष को मौका मिले कुछ खींच लेने का तुम्हारे पैर के नीचे से तो वो चूकते नहीं अब आनंद तो उनके लिए पूछ रहा था फंस गया बीच में वो तो शायद ये भी सोच रहा होगा कि देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा हूं कि मैं कोई नहीं सुन रहा आप नाहक सुना रहे मगर उसे ये ख्याल नहीं था कि दूसरे का दोष मैं देख रहा हूं अब यहां तुम ख्याल करना आनंद भी नहीं सुन रहा है वो इनको देख रहा है जिन सज्जन की मैंने परसों तुमसे बात कही जो कलकत्ता मेरे साथ गए और जिनको मैंने कहा कि तीन दिन के लिए परमहंस हो जाओ और वो चुप होकर बैठ गए और उनकी बड़ी पूजा हुई और लोग आए और पैर छुए वो मेरे साथ कई दफा यात्राओं पर जाते थे उन्होंने मुझे कभी नहीं सुना क्योंकि उनको सुनने की फुर्सत कहां वो ये देख रहे कि लोगों में कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है अगर लोग सुनते मालूम पड़ते तो वो बड़े प्रभावित होते अगर लोग सुनते ना मालूम पड़ते तो वो कहते कि आज क्या हुआ लोग सुन नहीं रहे थे मैंने उनसे एक दिन पूछा कि तुम कब सुनोगे अगर लोग प्रभावित होते तो वो प्रभावित होते वो मेरी बात सुन के प्रभावित नहीं होते वो ये देखते कि लोग बिल्कुल सत्य में आ गए सुन रहे हैं बिल्कुल सुई भी गिर जाए तो सुनाई पड़ेगी वो बड़े खुश होते वो ऐसी जगह बैठते जहां से उनको सब दिखाई पड़ते रहे ताकि वो देख लें कि सब सुन रहे हैं वो दुनिया के कल्याण में बड़े उत्सुक थे उनको अपनी कोई फिक्र नहीं मैंने उनसे कहा तुम कब सुनोगे कौन सुनता है नहीं सुनता है इससे क्या लेना देना है जहां तक मैं जानता हूं तुमने सबसे ज्यादा मुझे सुना और सबसे कम सुना वर्षों तुम मेरे साथ रहे जगह जगह तुम गए मगर तुमने मुझे सुना नहीं तुम्हारी बेचैनी उन पर अटक गई है कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है जैसे उनके सुन लेने से तुम्हें कुछ लाभ हो जाएगा अब आनंद बुद्ध के निकटतम शिष्यों में था लेकिन बुद्ध के मरने के बाद समाधि को उपलब्ध हुआ जीते जी समाधि को उपलब्ध नहीं हुआ अनेक शिष्य आए और समाधिस्थ हो गए अरहतत्व तत्व को पा लिया अरिहंत हो गए पीछे आए आनंद सबसे पहले आया था वो बुद्ध का चचेरा भाई था बयालीस साल बुद्ध के साथ छाया की तरह रहा एक क्षण को साथ नहीं छोड़ा रात उसी कमरे में सोता था जहां बुद्ध सोते थे दिन भर छाया की तरह लगा रहता था जब उसने दीक्षा ली थी बुद्ध से तो उसने एक शर्त करवा ली थी वो शर्त यह थी कि तुम मुझे कभी भी आज्ञा मत देना वो बड़ा भाई था चचेरा भाई था तो दीक्षा के पहले उसने कहा कि सुनो अभी तुम मेरे छोटे भाई हो दीक्षा के बाद तो मैं शिष्य हो जाऊंगा फिर तो तुम जो कहोगे मुझे करना ही पड़ेगा इसलिए दीक्षा के पहले कुछ शर्तें रख लेता हूं बड़े भाई के लिए इतना करो एक कि तुम मुझे कभी भी किसी भी स्थिति में यह नहीं कह सकोगे कि आनंद तू कहीं और जाके विहर मैं आपकी छाया की तरह लगा रहूंगा दिन हो कि रात मैं आपके साथ ही रहूंगा यह एक वचन आप दे दें दूसरा वचन कि मैं किसी को आधी रात भी ले आऊंगा कि इसकी कोई जिज्ञासा है तो आपको हल करना पड़ेगी आप ऐसा नहीं कह सकेंगे कि अभी मैं सो रहा हूं ऐसी उसने शर्तें ले ली थी तो वो बयालीस साल छाया की तरह बुद्ध के साथ रहा लेकिन ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ तो बुद्ध ठीक ही कहते हैं कि दूसरे का दोस्त देखना आसान सुदसम वज्र मंजेसम अतनोपन दुदसनम पर अपना दोस्त देखना बड़ा कठिन आनंद तू ये तो देख रहा है कि ये कोई नहीं सुन रहा है लेकिन तूने सुना और जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो आनंद छाती पीट पीट कर रोया क्योंकि उसने सुना ही नहीं उसने भी जिंदगी ऐसे ही बिता दी कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है इसकी फिक्र में बिता दी वह मनुष्य दूसरों को दोषों की भूसे की भांति उड़ाता फिरता है लेकिन अपने दोषों को वैसे छिपाता है जैसे ज्वारी हार के पासे को छिपाता है बुद्ध ने कहा मनुष्य ऐसा है दूसरों के दोषों को तो उड़ाता है भूसे की भांति कि सबकी आंखों में पड़ जाए सबको दिखाई पड़ जाए और अपने दोषों को ऐसे छिपाता है जैसे ज्वारी हार के पासे को छिपाता है दूसरों के दोष देखने वाले तथा दूसरों की टीका टिप्पणी करने वाले के आश्रव बढ़ते हैं आनंद उससे उसके बंधन बढ़ते कटते नहीं वह आश्रवों के विनाश से दूर ही रहता है उसके आश्रव विनष्ट नहीं होते उसके बंधन के मूल कारण टूटते नहीं उसका संसार चलता रहता है आनंद तो ठीक ये नहीं सुन रहे हैं ये तो ठीक मगर तू मत इस फिक्र में पढ़ तू सुन यहां तुमसे भी मैं ये कहना चाहूंगा जब मैं कह रहा था कि कोई यहां जमा ही लेता कभी कोई झपकी खा जाता कोई इधर उधर देखता तो तुम जल्दी से सोचने मत लगना कि मैं किसके संबंध में बात कर रहा हूं तुम जल्दी से दूसरों की तरफ मत देखने लगना कि पड़ोस में कोई जमा ही ले रहा हो तुम कहोगे देखो ये बेचारा दूसरे के दोस्त देखने बहुत आसान उसको लेने दो जमाई वो उसकी मर्जी अगर उसने जमाई ही लेने का तय किया है तो हम कौन बाधा देने वाले ले चलो यही क्या कम है कि उसने ऐसी जगह आके जमाई ली वैश्या घर में बैठ के भी ले सकता था यहां कुछ होने की संभावना तो है ही कहीं ना कहीं से चोट शायद कभी पड़ जाए जमाई लेते लेते ही शायद कोई चीज भीतर सरक जाए शायद मुंह खुला हो जमाई में और कुछ गटक जाए झपकी खा रहा हो झपकी में कोई चीज सरक जाए चलो ठीक जगह आके जमाई ली ठीक जगह आके झपकी खाई मुझसे कोई पूछता कभी उसको नींद आ जाती सदा वो कहता है बड़ी हैरानी की बात है बस आपको सुना कि नींद आई ऐसे चाहे रात भर नींद ना आए बस आपको सुना कि नींद आई आप क्या मंत्र कर देते तो मैं कहता हूं चल कोई बात नहीं यहां आके सो ये भी ठीक शायद नींद में ही मेरी बात कभी उतर जाए कोई सपना बन जाए शायद नींद भी कभी द्वार बन जाए चलो कोई हर्ज नहीं सत्संग अगर नींद में भी हो तो भी ठीक दुष्ट संग तो जाग के हो तो भी ठीक नहीं